और तुम अपनी कस्मों को आपस में फसाद डालने का जरिया ना बनाओ जिसके नतीजे में किसी और का पांव जमने के बाद फिसल जाए फिर तुम्हें उसको अल्लाह के रास्ते से रोकने की वजह से बुरी सजा चखनी पड़े और तुम्हें ऐसी सूरत में बड़ा आजाब होगा